तो नाना अध्यात्म बिना कोई अनेक प्रकार के भगवान को भगवान के सामने जाते हैं वंदना करते हैं प्रार्थना करते हैं ऐसे उसने प्रार्थना की तो भगवान के पास जाकर के उसने प्रणाम किया तो भगवान भी उसकी तरफ देखने लगे कि ये आ गई स्वतंत्र था बहुत तो दिन तक उसने तपस्या की है ये भी हमारी भक्त है भगवान ने उसको अपने स्वयं प्रभा को पहुंचाना और ये भी भगवान से प्रार्थना करनी प्रार्थना इसमें क्या की तो जगह जगह बहुत से भक्तों की प्रार्थना का वर्णन तो राज ने किया है लेकिन स्वयं प्रभा ने भगवान की क्या प्रार्थना की उसका वर्णन यहाँ पर नहीं किया है बस ये कहिए नाना भांत विनय की नाना भात विनय के तो माना है उसमें दो बातें कही एक तो उसने अपनी बात कही और दूसरे भगवान की बात कही पहले उसने शुरू किया अपना परिचय के रूप में जैसे कि कोई बता रहा है उसने प्रकार से बताया कि मैं हजारों वर्ष से आपकी प्रतीक्षा में तप में लगी हुई थी इतने दिन से निरंतर आपका चिंतन ध्यान बराबर लग करती रही किसी नाम भी आपका व्यक्ति रही इस प्रकार से एकांत स्थान में रह करके निर्विकार भाव से सदा आपकी के ध्यान में तत्पर रही केवल फल फूल खा करके उस प्रकार से वहां मैंने बात किया कभी भी आपके चरणों को हमने बताया नहीं और कहा कि आप तो भगवान हैं पर ब्रह्म परमात्मा है जो निर्गुण रूप है सगुण रूप है ऐसे आप हैं आप ही का निर्गुण रूप भी है आप ही का सगुण रूप भी है मैंने कितने ऋषि मुनि हुए कितने विश्वास तो हुए लेकिन सब ये आपको जान नहीं पाते हैं सब आप बुद्धि के करे हैं मन बुद्धि के इंद्रियों से अगोचर हैं फिर भला कोई आपको अपनी आंखों से देख ही कैसे सकता है या नहीं कैसे सकता है आप परात्पर हैं ब्रह्म हैं आप अपने भक्तों की कृपा करने वाले हैं ऐसे करके उसने सप्रार्थना की भगवान से और भगवान से बार बार उनके चरणों में प्रणाम किया और बार बार कहा कि ये प्रभु अब हमारे ऊपर आप कृपा करो अब हम आपके दर्शन आज आपके प्राप्त हुए हैं तो आप हमारा उद्धार करो किसी प्रकार से हम जो हो जैसे आपके सामने आए हैं आपने अपने दर्शन दिए हैं तो आप उनको भक्ति प्रदान करो तो उसने कहा अन पायनी भगत प्रभु जी तो उसने भक्त भगवान से भक्ति मांगी तो उसने कहते हैं कि भगवान ने उससे कहा भी कि तुम्हारी तपस्या से तुम्हारी भक्ति से हम बहुत प्रसन्न है तुम जो चाहो वरदान प्राप्त कर लो मांग लो क्या चाहते हो तुम तो उसने कहा कि भगवान आप हमारे हमें आप अपनी भक्ति दो और अन अनापायनी भक्ति दो आना पाएंगे तो मैंने ऐसी भक्ति दो जो कभी नष्ट न हो समाप्त न हो खंडित न हो ऐसी भक्ति दो सदा बने दो शाश्वत भक्ति प्रदान करो आप और अब उसके बाद जहां कहीं भी हमारा शरीर का हो जहां कहीं भी हम जाएं जहां कहीं भी हम रहें वहां पर आपका स्मरण रहे आपकी भक्ति सदा ध्यान में रहे हृदय आपके चरणों में लगा रहे आपको हम कभी भूले नहीं एक बार स्वयं प्रभा ने भगवान से कही कि भगवान एक प्रकार ये भी आप करें हमें कि कभी संसारी व्यक्तियों का हमें साथ न संसारी पुरुष उनका साथ हमें संसारी जमाना जो लोग देहाभिमानी हैं इंद्रिय विषय भोगों में लिप्त हैं काम क्रोध से ग्रसित है ऐसे व्यक्तियों का हमें साथ भोजन मानो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा जो है दुख की बात जीवन के विपत्ति की बात यही है कि संसारी व्यक्तियों के साथ रहना पड़ता है और वे लोग स्वयं काम के विकारों से ग्रसित होते हैं और वे उनका साथ कष्टदायी होता है भगवान के भजन में साधना में ध्यान चिंतन में बाधादायी डालते हैं इसलिए भगवान कृपा करो इनसे हमको दूर रखो तो भगवान ने भी उसको कहा कि अच्छा अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुमको तो भक्ति तो प्राप्त होगी हमारी अनतायनी भक्ति प्राप्त होगी और जो तुम ये चाहते हो संसारी पुरुषों का तुम्हारा साथ न हो तो उसके लिए तुम तो अब बद्री बनने जाओ बद्री का आश्रम में जा करके बात करो वहां तुमको संसारी पुरुषों की तुम्हें तो वहां पर तुम्हारा साथ उनका नहीं होगा तथा बदरी कभी कभी सो गई प्रभु अज्ञा घर से इस मानवता भगवान ने आज्ञा दी क्या तुम बद्री वन में जाकर के बात करो तो वो वहां जाकर बद्री का आश्रम में जाकर के वहां बात करती है बद्री बन प्रभु सो गई प्रभु अज्ञा तो प्रभुवन भगवान है उन्हीं की आज्ञा हुई तो भगवान की आज्ञा भगवान श्री राम जी की आज्ञा को धारे करके वो बद्री का आश्रम चले और उर्धरी राम चरण जी जय बंदे के अजीश है और भगवान श्री राम जी के चरणों का सदा ध्यान करती हुई भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए भद्रिकाश्रम चली गई और वहाँ भी निरंतर भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते कौन से भगवान के चरण बंदित अज ईश अज ब्रह्मा जी ईश मैंने शंकर जी मानी जब तक ब्रह्मा जी शंकर जी भी जिन चरणों की वंदना करते रहते हैं जिनका ध्यान उपासना पूजन निरंतर करते रहते हैं उन्हीं चरणों की उपासना भगवान राम परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा है ऐसा समझ करके उनके चरणों का स्मरण करती हुई बद्रिकाश्रम में बात करने तब दोस्तों नाम मानस में इस प्रकार से जगह जगह जो हमारी गंभीर साधना है गहन कम साधनाएं हैं उनका उल्लेख इस प्रकार से प्रतीकात्मक रूप में होता रहता है अब विचार करें तो देखते हैं कि जब हम अपने अंदर प्रवेश करते हैं तो अपनी उपनिषदों में सभी जगह विवर की बात आती है हृदय गुहा की बात आती है बुद्ध गुहा की भी बात आती है हृदय गुहा का भी काम आता है कि तो उसमें प्रवेश करो तो जहाँ प्रवेश करने के बाद तक तो परमात्मा के तक पहुंचते हैं वहां उसका वास होता है वहां तक हम पहुंच जाते हैं अगर हम जहाँ बैठे हुए हैं अब हम वहाँ अगर हृदय में पहुंचना चाहें हाँ, सुबह से भी आगे निकल करके अगर हम और आगे पहुंचना चाहें समुद्र के किनारे जैसे माने लोग पहुंच गए थे तो उसके के समय अपने हृदय के भीतर पहुंचना पड़ेगा और आंखें बंद करनी पड़ेगी हमारी दो दो आंखें हैं एक दो दो आंखें तो बाहर हैं दो प्रकार की आंखें एक तो बाहरी आंखें हैं इन आंखों को बंद करो और अपने भीतर देखो तो, तो पहुंच जाओगे अपने मन में अपनी बुद्धि में जो अपने मन में विचार उत्पन्न हो रहे हैं मन के विचारों विचार भी दिखाई देने लगेंगे बुद्धि में जो विचार आ रहे हैं वो भी दिखाई देने लगेंगे क्या हम ये विचार कर रहे हैं ये भाव आ रहे हैं ये सब अपने भीतर दिखाई देने लगेगा और उसमें जो भीतर प्रवेश करो अब वहां जो दिखाई देने लगेगा मैंने वहां पर भी आंखें हैं तो दूसरे प्रकार की आंखें हैं उन आंखों से अपने मन को देखो अपने बुद्धि को देखो अपने हृदय को देखो और फिर वहां हृदय गुहा उस हृदय गुहा के भीतर प्रवेश करो अपनी आंखों से देखते हुए भीतर और प्रवेश करेंगे तो जब हृदय जहां जब भीतर प्रवेश आप करेंगे वहां पर तो हृदय जहां बड़ी विचित्र गुहा है जैसे इसमें इसमें अगर जैसे ये गुफा की बात आती है तो इसी प्रकार से हृदय की गुहा भी ऐसी ही है जैसे यहां बरनी है क्या विशेषता इस गुहा की है वैसे तो किसी जितनी भी गुफाएं आपने देखी होंगी तो पर्वतन पर जाए तो जगह जगह छोटी बड़ी गुफाएं बहुत जगह मिल जाते हैं जगह जगह में अब जैसे चित्रकूट में पहुंचे गुप्त गोदावरी जहां पर वहां से पानी निकलता है उसके भीतर तो वहां उसके भीतर जहां घुसे अब गुफा है और गुफा के भीतर घुसे तो उसके भीतर एक फल जैसा भी दिखाई देने लगा एक बड़ा भारी किसी के पास एक छोटी गुफा है पतली पतली जितना आदमी भीतर घुस सकता है उसके भीतर घुसे कल टाइप की है उधर सामने चला गए बैंक घूम गए तो वहां से भी पानी निकल करके आ रहा लेकिन उस गुफा के भीतर तो अंधेरा भरा हुआ उसके भीतर कहीं कोई ऐसा थोड़ा कि वहाँ मैदान हो या बगीचा लगाओ उसकी गुफाओं में थोड़ा हुआ करता है इसलिए होता किसी गुफा में पर्वत में घुसोगे तो अंधेरे अंधेरा उसको सुनने मिले लेकिन ये गुफा ऐसी है कि जिसमें प्रवेश किए तो घर की तरफ कोई अंधेरा नहीं मिला क्योंकि उजेला दिया होता तो सब पेड़ कैसे होते उसके भीतर उजेला था वहां सब प्रकाश था और वहां मैदान भी था बगीचा भी था तालाब भी था ऐसी गुफा थी तो उसके मैंने ये है कि हृदय के भीतर की गुफा ऐसी ही है और जब हैं हृदय के आंख पास को देखते हुए हृदय के नेत्रों से गुफा को देखो और अपने हृदय के अंदर प्रवेश करते जाओ प्रवेश करते जाओ ये वृत्तियां जहां से उत्पन्न हो रही है अहंकार का जो मूल है उसको खोजते हुए <clears throat> आगे जब बढ़ते जाएंगे तो हृदय गुफा में प्रवेश करते जाएंगे और वहां पर दिखाई देता जाएगा <clears throat> जब उसमें हृदय गुहा में जाएंगे तब हृदय गुहा में जाने के माने उस गुहा में प्रवेश करो जिसमें प्रवेश करते करते हृदय तक पहुंच जाते हैं हृदय बाद में नहीं अपने मन बुद्धि में विचार करते करते आगे बढ़ोगे तो फिर हृदय तक पहुंच जाओगे जैसे ये गुफा के भीतर प्रवेश किए तो उसके भीतर जहाँ स्वयं प्रभा थी वहां तक तो हृदय ये गुहा इस प्रकार की है कि जब उसमें प्रवेश करते हैं तो उसके भीतर पहुंचने पर एक अनंत आकाश दिखाई देता हृदय आकाश कहलाता हृदय भी जैसे बाहर आकाश है उसी प्रकार से हृदय सुंदरी में उसमें उसमें छानवे उपनिषद में सातवें अध्याय में आता है कि तो अपने हृदय में प्रवेश करो वहां पर तो जैसा बाहर आकाश है ऐसे शब्द बोलते हैं कि जैसे बाहर आकाश है उसी प्रकार से अपने हृदय में भी एक आकाश है उसका नाम है हृदय आकाश अब आकाश के माने इसको बहुत जातक बहुत स्थान इस प्रकार के हो ऐसे अपने शरीर में भी लेकिन हृदयाकाश में जो जो कुछ है वो सब क्या है वहाँ पर आकाश के भीतर वहाँ पर विश्राम हो शांति हो सब प्रकार का वहां सुख हो को विश्राम का व्यक्ति अपने हृदय में अनुभव करता है ये भी लोग जब ध्यान करते हैं तो पहले उसे हृदय आकाश में पहुंचते लेकिन हृदयाकाश में तो हृदय हृदय है और हृदय है तब फिर वहां पर देखो अब इस हृदयाकाश में दिखाई भी देता है दिखाई देता है किस प्रकाश में दिखाई देता है वहां कौन सा प्रकाश है तब ये कोई भौतिक प्रकाश वहां नहीं है वहाँ आध्यात्मिक प्रकाश ही है आत्मा का प्रकाश परमात्मा का प्रकाश वही प्रकाश हृदय को सब छाया हुआ है लेकिन फिर भी व्यक्ति अपनी व्यक्तित्व का अनुभव वहां भी करता है ये लोग पादर हैं गणे पहुंच गए हैं ये हृदय है और ये हम है उस समय जब इस प्रकार से अपने आप को अपने अस्तित्व का अनुभव करता है हृदय के भीतर वो फिर फिर वहां पर वो हो एक प्रकार का शांत विश्राम सुख अब जो व्यक्ति तपस्या जो की जाती है और परमात्मा को प्राप्ति के लिए प्रयास किया जाता है तो इसी हृदय गुहा में और हृदयाकाश में बैठ करके ही हमारी बुद्धि वहां पास करती है और परमात्मा से प्राप्त करने की कामना करते हैं और वो परमात्मा जो है वो वहीं व्यक्ति को कालांतर में प्राप्त होता है वहां पर जाकर के कोई परमात्मा को तुरंत ढूंढ लो तुरंत प्राप्त कर लो पकड़ लो तो ऐसा संभव नहीं उसी स्थान पर जब वर्षों वर्षों व्यक्ति उसी हृदय में रहते हुए परमात्मा का स्मरण करे उसी का चिंतन करता रहे और हृदय साथ नहीं उसी हृदय में स्थित ही रहो वही निरंतर विद्यमान रहो चिंतन करता रहो तो फिर कालांतर में वो नेत्र जो भीतर वाला नेत्र है जो विदेश बुद्धि वाला नेत्र है ज्ञान का नेत्र है वो नेत्र भी धीरे धीरे करके बंद होता है और जहाँ वो बंद हुआ तहाँ उसके बाद अपने आत्मस्वरूप का प्रकाश परमात्मा का प्रकाश वहां पहुंच जाता है उसे वो दिखने लगता है तो इस प्रकार से व्यक्ति <clears throat> अपने <clears throat> अंदर प्रवेश करने का जो प्रक्रिया है <clears throat> वो वैदिक प्रक्रिया ध्यान की प्रक्रिया उसके भी सूचक इस प्रकार के यहाँ पर ये कथा संक्षेप में है इसलिए कुछ संकेत इसमें उसके जगह जगह है पहले सुबह से भी बताया था तो जब व्यक्ति की निशाचरी वृत्ति समाप्त हो काम क्रोधादि को छोड़ेगा तब अपने हृदय के भीतर प्रवेश कर सकता है निशाचरी वृत्तियां रहेंगी तो वहां जा सकते फिर जो शास्त्रों का दिन भी करो आत्मचिंतन भी करो विष्णु मुनियों का सत्संग भी करो ये सब साधना करते हुए अपने हृदय में प्रवेश करेगा तब उस परमात्मा को भी प्राप्त करेगा लेगा दृष्टिकोण तो से देखो इस प्रकार से वो फिर प्रभु परमात्मा भगवान श्री राम जी के पास पहुंच गई स्वयं प्रभाव और वहां से फिर बद्रिकाश्रम चले अब ये बद्रिकाश्रम अपने शास्त्रों में ग्रंथों में जो ब्रह्म लोक है उसका सूचक है कैलाश पर्वत जो है वो हो शोधान वो कैलाश कहलाता है मैंने शोधान वो भी पर्वत के ऊपर वही हिमालय पर्वत के ऊपर हो गई भद्रता धाम जो है वो भी हिमालय पर्वत के ऊपर है तो भौतिक रूप से तो हिमालय पर्वत के ऊपर सभी स्थान है और हिमालय पर्वत और कहाँ कैलाश पर्वत सब पर्वत के ऊपर है तो इसके माने सब शास्त्र हमें पहुंचा देते हैं उनका जो शास्त्रों के शिखर पर पहुंचते हैं जैसे जितने वेद हैं वेद का अंत क्या है वेदांत वेदांत क्या है उपनिषद वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण जब उपनिषद में पहुंचते हैं तो ये उपनिषद हमें ब्रह्म लोग तक पहुंचा दे कैलाश लोग तक पहुंचा देते जैसे यहाँ बाहर पृथ्वी के ऊपर है उनके सबके स्थूल रूप में दिखा दिए गए ये पत्रिका ध्यान दिए कैलाश पर्वत है तीर्थ है जमुक्तीर्थ है अब जहाँ जहाँ हिमालय पर्वत पर पहुंचे तो वहाँ हिमालय पर्वत में बहुत ऋषि मुनि तपस्या करने वाले बहुत लोग मिलने लगे हर जगह उनके आश्रम दिखाई देंगे नगर नगर में सब तक पर गंगा जी के किनारे जहाँ कहीं देखेंगे संत महात्मा मिलेंगे उनका सत्संग करो और वहाँ भद्रता गांव तक जाओ कैलाश पर जाओ ऐसे करके ये भी अपनी साधना में है कि साधना करते करते आश्रम में लोग तक पहुँच गए उपासना करते करते शोधाम तक पहुँच गए ये सब के तो सब अपने अपने अंदर भी जैसे जो बाहरी जगत में है उसी प्रकार से अपने अंदर भी अपने अंदर धीरे धीरे साधना उपासना करते हुए परमात्मा तो राज्य की अब कथा देते समय क्या होती है एक रात में ये सब बानर लोग समुद्र किनारे पहुंच गए तो वहां क्या करते हैं विचार कपिल नहीं की अवधि काज कठिनाई सब मिल कहीं परस्पर बाता दिन शुभ लिए कर दाता लोकन घर बारी प्रकार भई मृत्यु हमारी सुख सीता के पाई ना गए मारं कपिराई पिता बदे परमार्थ हो मोहर मोही पुनि अंगद कह सब

युवराज प्रवीणा सिंह कट जाई कपि सब गर्व बताई जामयम गदित कथा उपदेश दिशे पुराणिकं नरजन्मानम् निर्गुण ब्रह्म यजतो यजानम् तमसवसेवकयपि बलभागी सन्तपि सगुण ब्रह्मानुरागी मजीच्छात्रभयवतरे सुरमयि बोधुविलागे सब संगता राम मोक्ष सब त्यागे त्याग राम चंद्र की जय पवन सुत हनुमान की बोले सब संतन की अब देखो तब तक जाकर के बांधवों ने क्या किया वहाँ पर इन संदेहों ने कि यहाँ बिता रहे कपिंग माही यहाँ कमल समुद्र के किनारे तो कसाई भी आश्रम करवाना वहाँ के समुद्र के तट पर पहुंचे खड़े देखा वहाँ पर तो वही की बात करते हैं यहाँ विकार कप मन में ही मानव अपने मन में सोचने लगे बीती अवध काज कसना ही जब जब स्वयं प्रभा ने उनको आश्वासन दिया था कि तुम्हारा काम पूरा होगा लेकिन अब ये यहाँ खड़े दोस्तों को तो समय तो बीत गया एक महीने का समय दिया था एक महीना पूरा हो गया सीताजी जी खोद तो अभी तक नहीं हो पाई सब मिलकर ही परस्पर दाता तो पुत्र आपस सब आपस में बातचीत करने लगे बातचीत करने लगे तो मैंने अपना पछतावा प्रकट करने लगे सबके मन में जो पश्चाताप था दुखी के परेशान थे वो सब अपनी अपनी बात करने लगे और क्या बात करने लगे जो दिन से सुध लगे कर्म का था अब ये समय में से कोई पूछता है कि अगर हम कुछ सीताजी खोज नहीं कर पाते हैं सीता सीताजी नहीं मिल पाती है तो हम लोग क्या करेंगे फिर करेंगे कि मैंने हम वापस भी नहीं जा सकते नहीं तो कोई कदर नहीं सिखाएंगे नहीं तो लोग होकर चलेंगे तो कहते ना वो भी तो नहीं हो पाएगा कोई रास्ता दूसरा बताओ क्या होगा उसके बाद <clears throat> तो जो जब प्रश्न आया तो अंदर अंदर जो है अंदर तो रोने लगा देखो कहते चाहे अंगद लोचन बर्बारी अंगद को तो अपनी शक्ति पूरी उसमें कथा याद आ गई और सब आंखों में आंसू भर करके अंदर जा जाता है कि तो दोनों प्रकार भई मृत्यु हमारी तो हमारी तो दोनों प्रकार से मरण हो गया यहाँ न शुभ सीता से पाई यहाँ सीता जी जब खोज नहीं कर पाए तो ये भी प्रकार से मरण हो गया और वहाँ गई नारायण कपिराई अगर वहाँ पर गए तो कपिराई को मैंने सुग्रीव सुग्रीव हुए नाडा लेकर गीता नहीं छोड़ गए और अंदर कहता है कि भाई तुम लोगों को छोड़ भी देते हो लेकिन हमें तो छोड़ेगा क्यों तो तुम्हारे साथ क्या हो गया कई पिता बधे पर मारक नहीं कई जहां पर वो जब जब पिता की मृत्यु हुई मैंने बाली मारा गया जिस समय तो वो तो सुग्रीव कहे तो हमको तो उसी समय सुग्रीव मार डालता हमें भी तभी मार डालता सुग्रीव सुग्रीव तो हमें मार डालने का बहानी खोज रहा है वो तो कोई नारा उसने राम निहोर में हुई तो उसने कथा करके खड़े में छोड़ दिया वो तो ये समझो भगवान की वजह से भगवान राम ने हमको युवराज बनवा दिया और कह दिया कि देखो हम लोग की रक्षा करना पालना पूछना इसको आगे राजा यही होगा तो भगवान की आज्ञा से डर से मारे उसने हमको मारा नहीं ये बात जो हम लोग के मन में जो वहां बसी हुई थी उस समय की बात यहां आकर के प्रकट हुई वहां उस समय को तो नहीं कहा हैं किसी समय लेकिन उसके मन में ये था कि सुग्रीव जो है हमसे सत्यता मानता है और मुझे भी मार डालने के लिए तैयार था लेकिन मारा नहीं तो कोई उसमें उसका ये हो रहा नहीं कि मैंने उसमें उसने हमारे ऊपर कोई कृपा करके मुझे नहीं छोड़ दिया है वो तो भगवान के कारण से छोड़ना पड़ा है मुझे इसलिए मुझे तो कभी मार डाला अब दूसरा से बात बहाना मिल जाएगा कि अगर हम यहाँ से बिना सीताजी के स्वरूप में वहाँ पहुँचे तो वो क्या मैंने पहले कह दिया था कि बिना सीताजी खोज करके तुम लट करके तो तुम्हें तुम मार डालूंगा अब बस उस समय मार डालूंगा अब भगवान भी क्या बताना तो भगवान का काम भी नहीं हुआ तो भगवान को बताएंगे आपको तो सुग्रीव को बहाना मिल जाएगा तुम बिना खोज कर जाए हो इसलिए तुमको मरो तो ये अंदर जो हो आंखों में आंसू भर करके अंदर इस प्रकार के हमारे ये सब बहुत दुखी है जगत पुण्य पुण्य जब कहे सब पाही मरण भय कुछ संशय नाही जब अंदर इस प्रकार से बोला कि सब लोग एक दूसरे पर देखने लगे तो देखो का कहते हैं समझता है बड़ी परेशानी की बात होगी अब क्या करना चाहिए उनका में सुबह होता है अंदर बचन सुन के कभी बीरा अब बोल न सके न बही मीरा और जब अंदर में आंसू बहने लगे तो सब आंसू बहने लगे जितने माँ साथी थे वो सब कुछ अच्छा कर दो अब कोई उनको किसी उत्तर किसी स्थित पड़े तब कहीं कि नहीं भाई यह तुम दुखी मत हो या कुछ कारण बताएंगे ये पंडित की बात सबको नहीं कि हाँ बहुत तो सही है प्रधान में सही होने वाला है ऐसे समझ कर पूरे बड़े दुखी दुखी वहां पर प्रकार और कोई कुछ बोल नहीं पाता थोड़ी देर के रहने के बाद में फिर किसी की बुद्धि में आया है जो जैसे क्या आता है जो मैंने भगवान ने किसी घोड़े में प्रेरणा उत्साह भर दिया हो तो ऐसे कोई बोला तो क्या बोला कि क्षण उनके सोच नगन हुई रहे पुण्य से बचन कहा कि सब भय क्षमा तो थोड़ा देर रुके इस प्रकार एक दूसरे को देखते रहे दुखी होते रहे आंसू गाते रहे लेकिन फिर ऐसा कहा किसी ने तो हम सीता कैसे दिल्ली में बिना मैंने सबकी तरफ से कहा कि हम हम सब लोग बिना सीता जी की खबर लिए हुए नहीं देंगे युवराज प्रवीणा युवराज अंगत को समझो संबोधन करते अंगत तुम किसी मत हो अब कुछ भी होता है अगर बीत गई हो कुछ भी हो महीना बीत गया होगा तो चलो महीना बीत जाएंगे लेकिन हम वापस नहीं चलेंगे और सीताजी की खोज अभी हम लगे रहेंगे इस प्रकार से वो लोग फिर भी कहते हैं आश्वासन अंगत को देते हैं कि सीताजी की खोज में हम लोगों को लगना चाहिए ऐसे कई लगन सिंह कट जाई मैं कहते थे कब सब दर्व बसाई हम्म। तो ये सब लोगों ने इन लोगों ने फिर क्या किया अंगत ने कहा अच्छा अब सीता जी की खोज करना है तब तो क्या करना चाहिए अब सीता जी को दक्षिण दिशा में है अब इससे दक्षिण दिशा में और अगर हम जाते हैं दिशा में इतना विशाल समुद्र खड़ा है और समुद्र के पार जाए कि न जाए और जाए भी तो कैसे जाए ऐसे समझ करके ये सब लोग वहीं बैठ गए दर्द दशाई तो मैंने है कुशासन दिखा कुछ आसने की बिछा करके मैंने वहाँ जहाँ कहीं तो कुछ होंगे घास फूस होंगे उन्होंने बिछाई और बिछा करके वहीं समुद्र के किनारे बालू वाली होती है उसी बालू के ऊपर उन्होंने कहीं अपने आजकल के सर्वज का मौसम था ठंडी ठंडी वाली थी उन्होंने अपने पुष्टि आसन दे करके उसके ऊपर बिछाए और उसके आसन के ऊपर ये सब लोग वहां बैठे और बैठ गए क्या मैंने <clears throat> वहीं बैठ करके ये लोग व्रत करने लगे वृद्ध करने लगे प्रतिज्ञा तो के तो सीता जी की खोज के बिना हम वापस नहीं जाएंगे और हम यहीं पर अन्न जल त्याग करके बैठे हुए और भगवान ही हमको रास्ता सुझाएगा कि किस प्रकार से सीता जी की खोज मिलेंगी तब सीता जी की खोज होगी और जाएंगे हम खोज तो एक प्रकार से अनशन करके बैठ गए अब हम जाएंगे अनशन नहीं करते किया जाता आजकल जैसे कैसे अनशन कर कैसे समुद्र किनारे दर्द दिखा करके बैठ गए सीता जी की खोज करने के लिए निश्चित करते कि हम वापस ही जाते हैं मरना है तो नहीं मरना ऐसे निश्चय करते बैठते अब देखो ये जो संसद स्थिति है ये है उन लोगों के लिए एक कभी कभी लोगों के जीवन में इस प्रकार की भी घटना आती है कि जिन लोगों ने अपने भौतिक जीवन का सब त्याग कर दिया भौतिक जीवन क्या व्यस्त हो गया जब व्यस्त हो जाते हैं तो संसारी लोग ऐसे व्यस्त पुरुषों का भी त्याग कर देते हैं अरे साहब वो तो क्या सन्यासी हो गए महात्मा हो गए व्रत हो गए बर्दाश्त हो गया तो उन्होंने व्रत छोड़ दिया और वो ग्रस्त पुरुष अपने व्रत करके हृदय में भगवान का ध्यान कर रहे हैं पूजन कर रहे हैं लेकिन तमाम तपस्या करते हैं तमाम पूजन करते हैं लेकिन सफलता मिलती नहीं परमात्मा तो इतनी जल्दी हृदय में भी खुश करो जल्दी मिलने वाला नहीं हृदय में भी उनको मिलता नहीं तो देखते हैं वर्ष वर्ष बीतते चले जाते हैं न हाँ, ये लोक बना और न वो लोक बना ये समझता है हाँ, न परमात्मा की प्राप्त हुई और न ये संसार से जो ये छोड़ दिया न उसकी प्राप्त हुई दोनों तरफ से हम गए तो ये दोनों तरफ से गए वाली स्थिति का चित्रण करने के लिए यहाँ संशय की अवस्था बता दी और ये भी साधकों को व्यंग करने वाली व्याकुलता उत्पन्न होती है उनके मन में कि हाय हम कहने पर से अर्जुन को भी ऐसी लगा गीता में भी ये प्रश्न उठाया गया सपने अध्याय में जहाँ ध्यान का प्रसंग है तो ये भी प्रसंग मैंने ध्यान का ही अपने हृदय में पहुंचे भगवान को खोज करते हैं तो उसमें ये ध्यान का ही प्रसंग है किस प्रकार से करते हैं तो वहाँ जब भगवान ने सपने अध्याय में ध्यान का वर्णन किया अपने हृदय में उस प्रकार से भगवान का ध्यान करो तब अर्जुन पूछने लगा कि अगर सब जिंदगी ध्यान करते रहे और भगवान की प्राप्ति नहीं हुई तो क्या हम नष्ट भ्रष्ट हो गए सर हाँ? वहाँ पे उदाहरण देते हुए सूक्ष्म हुए बादलों की तरह गंगे जी की तरह से हमारा विनाश हो जाएगा न हम संसार के रहे और न परमार्थ के रहे दो दोनों हमारे गए तो फिर भगवान ने आश्वासन दिया अर्जुन को कहा कि देखो ऐसा नहीं है मेरी तस्ती में का सती जो व्यक्ति जो वो है मात्र भी थोड़ा बहुत भी जो परमात्मा की साधना में अध्यात्म साधना की साधना करता है उसकी दुर्गत नहीं होती विनाश भी उसका नहीं होता ऐसा अपने मन में निश्चय धारण कर उस परमात्मा की प्राप्ति तो होगी ही इस शरीर में नहीं हुई तो शरीर को नष्ट होने दो दूसरा शरीर प्राप्त होगा तो उस दूसरे शरीर के प्राप्त होने की फिर कथा भगवान बताने लगते हैं कहते अगर कोई कोई लौकिक कामना मन में रह गई होगी जिसके कारण परमात्मा की प्राप्त नहीं हो रही है तो अगले जीवन में कोई श्रीमान संपन्न के घर में प्राप्त हो जाओगे और वो तुम्हारी जो भौतिक कामना है वहाँ बिना ही तुम्हारे अर्जित किए हुए धन संपत्ति के वो अपने आप को जन्म से मिल जाएगी और भोग करके वो वासनाएं पूरी हो जाएगी आगे तुम्हारा रास्ता बनेगा हम्म? अन्यथा तुम्हारी कोई कामना इस जीवन में नहीं है और परमात्मा को प्राप्त होनी है तो आगे थोड़ी तुम्हारी तपस्या की कमी है तो फिर अगला जीवन में सही धारण करोगे तो किसी योगी के घर में पैदा होगे जहाँ बचपन से ही माता पिता ही उस साधना में लगे होंगे बचपन से ही भगवान का नाम ध्यान जब पूजन पाठ उसी में लगे होंगे और तुम जब जाओगे तो वही वातावरण मिलेगा तो बचपन से तुम्हारी आध्यात्मिक साधना होनी लगी वो तो जीवन तुम प्राप्त कर लो मैंने तुम्हारा ये साधन जो दस नहीं जाएगा परमात्मा को तो प्राप्त करोगे करोगे तो ऐसा आश्वासन जो है वो गीता का उसी प्रकार को ये लगता है कि यहाँ पर ये सब मानव जो है वहाँ समुद्र तट पर पहुँच करके समुद्र तट पर पहुँच करके मैंने परमात्मा के किनारे भी पहुँच करके वहाँ पर सीता जी के पास तक पहुँच करके भी हम जाकर मिल गई सीता जी तो इस तरह से उनकी व्याकुलता उनके मन में होती है उन्हें शांति प्रदान करने के लिए फिर जो है हाँ, अब देखो ये जो गर्म दशाई वाली बात है ये भी बात बड़ी उपयोग की बात है वैसे तो लगता है कि खान में ऐसी कह दिया अस कई लगन सिंह कटनाई वैसे सब सभी गर्व दसाई ऐसे बोल दिया लेकिन साधक का काम ये है कि साधना करते करते एक स्थिति में जब वो अपने हृदय में पहुंच जाए तो वहां पर उसे अचल होकर के बैठना चाहिए गर्व दसाई के मैंने आसन जला करके बैठना चाहिए कि बस अब यहाँ हमें जाना नहीं अब यही हमें परमात्मा की प्राप्ति यही उसे हृदय में ही होनी यह समय शिक्षक नहीं शरीर कहते हैं कि गाड़ी शासन में बैठ करके चाहे हमारे शरीर ही छूट जाए